哎。 来，来，帕子没了。 क्यों हाथों करे गए तो ने मने माई तो बे कने हाथे कोनी वेता में कने कोई जाए को मन कने वे कने हाथे था वेता में वेज के हमें थे मोटिया हुआ हमें कोई वो थारे तू हाथे करे करावे नहीं रोना भाई जाई रो था वे रो तू तो हाथे करे तो तुम भारी ही जोड़े का मैं तू मांग था मैं कने लाई नहीं देता वे का करता वे देता ना के भाई के लावना पड़े Thank you. અહીં તો યાદ આવે કોઈ બે વેળે મરે જ્યારે હે કોઈ તો ભગવાન बोलो पहला मारा अटू दो जनों ने मतलब हवा लिखा हुआ ना अटू सास से पहला टोकड़ा है नहीं सवट पहला है सवट जाइन हवा लिखा है अटू पर से अटू दो जना जाए नहीं एक जनों वो भी भाषा आवे बटो दो जना आवे नाले ले राव ले हां जा रिकॉर्ड अटे अच्छा तो ढोल भी जो लाए ढोल फिर हम्म। बजावे फिर हम्म। फिर सब ना आवन बांधे हर ले ले अच्छा चार दिन दो दिन वाला तो इस जावे तेरा पौन रे अच्छा वाला रे तिलक भी जा कर रंग भी जा नाक या फिर वाला सीख दे दे अच्छा लारू पाटो मर दे दी पाट देवने फूल गले ले फसे पीटी करे दिन में दो टाइम या फसे हाँ जरा बांधोली नहीं रहे खूब हाँ, नाचे हाँ। ना वो पाठ पेटना तो है क्या है कहीं पाठ पेटना तो है हाँ, बताओ गीत गाए मतलब क्या और क्या चलता है यहाँ पर क्या है कि पाजोड़ रखेंगे हैं सब सब बताओ पूरा बताओ मतलब क्या है कि पाजोर रखेंगे वहाँ उसके ऊपर ये बीन राधा बीन राधा बैठे उसके ऊपर बैठे क्या और सब औरतें ना अच्छा, इसकी पीटी लगाई मारवाड़ी में बोलो हिंदी में नहीं आगे आगे आगे पीटी हाँ। लगाए मनु बता असर अच्छा, वजह ना नहीं नहीं वो भात बता ना पूरा बताओ चलो बता भाई बात भात ना क्यों बैठो मैंने किक नहीं बैठो मैंने किक नहीं दो तो कौन कौन हुई आगे आगे क्या क्या तो तो हकीकत हाँ माँ माँ हुई भाभी हुई हाँ। माँ भाभी सब सब कौन बेटा ये फिर एक अकेले और वो वो करें तो साझा जी हाँ, उसका मतलब क्या है उसका मतलब कहीं है इसका मतलब कहीं है मतलब कोई ठंड ठावे नहीं मतलब ऐसे बताओ उनको अरिति है या अरिति ऐसा मतलब बस अरिति है हां अरिति हाँ। का मतलब क्या है यो नहीं ये यो क्या है इसका मतलब अरिति है क्या बताओ हां अरिति मतलब कोई मतलब क्या है ये वो जगह बार हम के दे पास छाजड़े में गांव सो होइला बाद में कहीं के लुगे में हैं गीत गाए ने गीत पछे उन कहीं जगन भेज दे भेज बस उन बाद में जितने दिन होए पीटी करी ढोल बंदोल निकली हाथ ना आई जने उन्हें नाचेला और तो नाची ना आज भी भी नाचे अच्छा हमारा हनुमान भी जल रहा है हाँ। बढ़िया कपड़ा भी जल रंगे ना खूब रंग में करा है सिर पर बाबू भी करा है कमर बांध दिया तुम तो तलवार यूं ले बस एक तुवाल बहने अपन बॉडी एन फसे देन तो पड़े नहीं गाड़ी रुमान बैठना आगे बचे हाँ, आगे बता हाँ, नहीं मैंने पूरी याद नहीं गोद गोद हाँ बताओ कहीं कहीं है थलजा में चलो ठीक है शुरू कर लो है ना ठीक है शुरू कर लो सोहेल हम्म। परमार काग हम्म। हम्म। परिया अच्छा खंडाला अच्छा बड़े मंदिर यार लसेडा बताओ परमार तो मैं की हो पहले होड़ की खंडा लाइक किया बस हंडा हंडा हंडा मैंने भी है जाति की उत्पत्ति किसी को ज्ञान पड़ेगा जाति उत की उत्पत्ति हाँ आज शाम को तोकरला में कोई राव जी हैं हमेला राव जी राव जी आपकी आपका राव जी कहाँ है

दूजे गोद अर्जेंट है बस एड्रेस याद है इस गोद में शादी नहीं हो सके मारे एक इस गोद में परमार परमार कर नहीं हो सके फिर दूजे मां की गोद में वे सके मां की गोद वे सके हाँ, तो एक ही एक ही गोद मना है मां की गोद शादी वे सके आदमी रे आदमी की गोद एक नहीं वे सके वही या मामा की गोद में हम्म। मामा मामा भाई की बहन की नहीं तो कौन से गोत माना है बुआ की बुआ और मामा हाँ नहीं दूसरी गोत और महसूसा हम्म, हम्म। नहीं हो सके नहीं हो सके महसूसा नहीं बह अच्छा तो चार गोत माना है अपना गोत महसूसा मामोसा बूढ़ोसा है

来。

ના ઓડા ઓડે ઓડે ને જાણો ના હીક હા શીખો મને કરજો ના ના કરા ઘરે હા ના શીખો કરજો પણ ના ઓડા બોલા ભયા દે બસ મત બસ ઓ નહીં હું તો ઢોકરી હુલે લાયો ના

લે મેદી મોમી મદબા હી ગઈ કર લકા મામા કે મેદી બીજે જરી તંગી તે આ માત મોમી આ બોળા જાવ ને અમે જાય મત આવો મત આવો નની અમે લેતો જાવ આવડી કને મત એ ડાવર

shoes, now PT is going on. આવી રહ્યા ઘરે થાય ભાઈ හත मेरे के साथ

फोटो दिखवाते लाओ ठीक है ठीक है फोटो बाहर देना फोटो दिखा फोटो नहीं है भाई